सिखा जा रहा है आप कैसे हम आदमी बात को कहना सीखोगे बोलना सीखोगे धीरे धीरे आप बहुत अच्छे बोलने में बजाओगे ये आपसे ठीक है आपकी अच्छी है बोलना आपने सीखा है तो लखनऊ को बयान कर दिया ये पिछले दिनों तो जो इंद्रवाद ने कहा था एक बड़ी तबरांगी लिखी थी और कई बोली थी आपने देखा की शास्त्र द्वादशमाध्याय दसवों मंत्र पठिष्यते व्याख्या सते आज यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय का दसवां मंत्र पढ़ा जाएगा और उनकी व्याख्या की जाएगी मंत्र में एक बात बताई गई कि ईश्वर हमारा सहायक है भाई के तुल्य है ईश्वर का और जीव का जो संबंध है परस्पर यदि व्यक्ति उसको जान ले और उसको व्यवहार का रूप दे दे तो निश्चित रूप से कल्याण का भागी बन जाए प्रथम कार्य है समन्वय व्यक्ति को देखने से पता चलता है समाज को देखने से पता चलता है कि जो व्यक्ति जड़ और पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव को जानता है और फिर उससे उचित व्यवहार करता है वो सफल होता है इसको हम समझते हैं ही उचित संबंध से कल्याण अनुचित संबंध से अकल्याण ऋषियों की भाषा में कहा गया पृथ्वी से लेकर के परमात्मा पर्यंत ज्ञान ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना विवेक है आगे बढ़े पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत पदार्थों का गुण स्वभाव को जानना और उनसे अपना और दूसरों का कल्याण करना ये विवेक इस अग्नि से हमारा क्या संबंध इस अग्नि से हम हवन करते इस अग्नि से हम भोजन बनाते इस अग्नि से कितने काम लेते हैं कब इसके स्वरूप को जानते हैं इससे हमारा उचित संबंध उचित संबंध व्यक्ति की सफलता का कारण है ईश्वर दुखी क्यों है उसका कहीं उचित संबंध है तो कहीं अनुचित संबंध है उसका जितना उचित संबंध है उतना वो लाभ लेता है मेरा इसे लाउड स्पीकर का उचित संबंध है वहां तक आवाज सुना देता हूं और मेरा संबंध इस और यू करूं इसको यूं कर दो इसको यूं तो क्या कहां जाएगी मेरी आवाज इसको यूं कर दिया है बटन को बटन को ऐसे दबाकर कर हूं तो उचित संबंध नहीं आया उचित संबंध न होने से व्यक्ति दुख उठाता अब आप वो ईश्वर से क्यों नहीं मिल पा रहे आप क्यों नहीं मिला किसी को ईश्वर है तो कहते सवेरे दिखता है सब जगह पर अच्छा सब जगह दिखता अनुमान प्रमाण से हाँ, हाँ, प्रत्यक्ष से नहीं दिखता होगा वो अनुमान प्रमाण से संबंध है वो वो भी अच्छा संबंध है पर वो पूरा संबंध नहीं है जानते हैं कि इस अपने विद्यालय में विकास में महान एक तत्ववेता वैज्ञानिक योगी जाति सब रहते हैं पता तो चल गया यहाँ के कर्मचारी अच्छे दिख रहे फिर उस भूमि से कोई संबंध नहीं तो क्या विद्वान बन जाओगे अर्थात अनुमान प्रमाण भी काम करता है ये नहीं ठीक है मैं आगे ले जाना चाहता हूं ईश्वर का संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे छोटा बच्चा मां का दूध पीता है ऐसे ईश्वर का आनंद ले ये वास्तव संबंध अंतिम संबंध ये क्यों नहीं हुआ हम ईश्वर को जानते नहीं ईश्वर से हमने संबंध के जो नियम थे उनका पालन नहीं किया वैज्ञानिक इतनी उन्नति कर चुके हैं संसार उनसे प्रभावित पत्ते पत्ते पर उनका प्रभाव जन समुदाय में है परंतु वो दुखी और दुनिया उनके कारण सुख भी है उनके कारण पर दुख भी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे आविष्कार किए हैं उनसे हमको सुख मिलता परंतु दूसरा संबंध उनका खराब होने से वो सुख जो है वो कम पड़ जाता है दुख अधिक बढ़ता है जैसा संबंध वैज्ञानिकों का होना चाहिए था ईश्वर से वो नहीं भले ही कोई अपनी हुआ से कहे जहां नेम से रहा संसार ईश्वर तो होना चाहिए होगा कोई हवा जैसा कोई हवा जैसा मानता परमात्मा हवा जैसी ऐसा बच्चे नहीं हवा जैसा ऐसा वो ईश्वर भी है हवा तो जड़ है तो परमात्मा की जड़ है मानने की उनकी हुआ जो काम करती है वो करती है कहीं कहीं तो उसका उचित संबंध नहीं तो ईश्वर को हम भ्राता साहिब कहते हैं जब हम ईश्वर के साथ पर्याप्त संबंधों का वर्णन करते हैं तो उसमें हम सारी चीजें ईश्वर माता भी है हमारे हम ईश्वर के पुत्र ये संबंध है ईश्वर हमारा पिता है हम ईश्वर के पुत्र हैं ये हमारा संबंध ईश्वर हमारा आचार्य गुरु है हम ईश्वर के शिष्य में विद्यार्थी ईश्वर हमारा साध्य अर्थात उपास्य देव है हम उपास्य देव ईश्वर हमारा राजा है हम ईश्वर की प्रजा है ये सारे संबंध ईश्वर के हमारे जीव और ये संबंध कोई आज से नहीं है कोई आज कोई नैमित्तिक नहीं बने हैं किसी कारण से एकदम नहीं आ गए स्वभाव था ये बड़ी विचित्र बात है आत्मनिरीक्षण कर लो थोड़ा और निर्णय करो आपका सांसारिक माता पिताओं से जो संबंध है अच्छा संबंध है या परमात्मा से उत्तर ढूंढो अपना अपना परिवार से संबंध है संबंध तो परमात्मा के संसार के माता पिता से आपका अधिक संबंध है वहां भाई बहनों से अधिक अच्छा संबंध है या परमात्मा से अच्छा संबंध है तुलना करो पता चल जाएगा माता पिता भाई बहन से जितना संबंध आकर्षण है और करोड़ों रुपए की संपत्ति लगाता है बेटे पोते के ऊपर पति पत्नी के ऊपर परमात्मा के लिए पांच रुपए देने के लिए तैयार है ये संबंध है परमात्मा के है या नहीं आत्मनिर्भर कर लो अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपया कमाता है चालीस पचास मेरे खो देता परमात्मा के लिए एक लाख भी नहीं कमाता आत्मनिक्षण कर लो आप स्वयं वहां मिलेंगे लगभग इसमें आगे प्रगति नहीं की वहां लगेगा जो मैं बोल रहा हूं प्रगति कर रही उनके लिए मैं नहीं कह रहा मुझे सोचा हमने दर्जा तो कर दिया चलो उसको थोड़ा ही कहता जी ने कर दिया <laughs> मैं उसको नहीं कहता हाँ क्यों हमको यंत्र घसीट लिया वही उसको छोड़ दो प्राय ऐसी प्रवृत्ति लोक में है इसलिए संसार विफल है अपनी भावनाओं को कामनाओं को इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा संसार ईश्वर संबंध ईश्वर से संबंध कटा हुआ ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानना ये संबंध बिल्कुल कट गया है दूसरा संबंध ईश्वर से संबंध तो लगाना गलत संबंध जोड़ देना क्यों ये दूसरा संबंध गलत संबंध हानिकारक जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते धर्म को नहीं मानते पुनर्जन्म को नहीं मानते कर्म फल का दाता नहीं मानते उनका संबंध ईश्वर से कट गया नास्तिक जिसको हम बोलते वो वहां दुखी रहेंगे कोई नहीं बता सकता उनको से आप भौतिक चीजों को देखते हैं भौतिक चीजों में जो उनको उपलब्धि हुई है याद रखना वो ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं उतना रूस ने उन्नति की फलाने ने चीन ने उसने की क्योंकि उसने ईश्वर के नियमों का पालन किया उतने अंश यदि से छोटी चक्का जो लगाते जापान ने उन्नति की आर्थिक अवस्था में अमरीका के तुल्य आदि पहुंच गया यहां सुनते हम कितनी उन्नति की उसने वो ईश्वर के नियमों का पालन करता है इतने अंश में उन्नति करता है तेजी से चोटी तक का जोर लगाता है परिश्रम करता है अपने देश अपनी भाषा अपनी राजनीति सर्वोपरि है और ये भारत का व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हुआ अपनी भाषा नहीं अपना खान पान नहीं अपनी राजनीति नहीं अपना चाल चलन नहीं अपना देश नहीं खाता यहां का है जन्म यहां हुआ है और गीत गाता है विदेश विरोधियों इसलिए आप ये कर, कह सकते थे कि इन्होंने नास्तिक लोगों ने कैसे उन्नति की वो परिश्रम करते हैं पूर्व निर्भर कर्माणी का पाठ वो इतने उसमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करते इसलिए इतने उन्नत हो गए और जो नहीं करते इतनी उनकी दुर्गति है रूस की कैसे आंसर मच रही है नास्तिक भाग रहे एक प्रकार से वो कहीं नियंत्रण में नहीं रह पा रहे वो कोई भी देश उसके पूरे संबंधों से जब वो बाहर जाएगा वो निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा ईश्वर से संबंध फिर जीवों से संबंध फिर प्रकृति से संबंध फिर प्रकृति से बनी चीजों से संबंध ये सारे संबंध जो व्यक्ति उचित स्थापित करता वो सफल है दुनिया उसको लौकिक सुख भी मिलता है और इस सुख की प्राप्ति हो रही है समय हमारा समाप्त होता है तो अब आगे के कार्यक्रम चलेंगे कोई कोई दो चार ऐसी बातें लेके जाया करो अब ये संबंध बोलते रहो इस पर एक एक घंटा तक इतना गहरा है और ये कल्याणकारक है अब आपने सुना अनूरा दिया ना लिखा ना याद बस वो फिर इतना काम में नहीं आएगा थोड़ा सा काम आएगा धन संपत्ति अपने स्थान पर सुखदायक उसका अपना उपयोग व्यर्थ नहीं सब ठीक है और ये विद्या जो है अपने स्थान पर उपयोग और योगाभ्यास अपने स्थान पर उपयोगी है और जो व्यक्ति सबका समन्वय कर लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है समन्वय छिन्न भिन्न होने पर व्यक्ति दुखी होता है एक व्यक्ति केवल धन को ही सर्वोपरी मानता है वो महादुखी होता है एक व्यक्ति शब्द शास्त्र को ही सर्वोपरी मानता है और रट रटा के तोते की तरह सारे दिन भर दुखी रहता है एक व्यक्ति आंख से बैठा है योगाभ्यास के नाम से उसके पास में ज्ञान भी नहीं और धन भी नहीं वो वैसे दुखी रहता है आपने हरिद्वार आदि में देखा जहां मारे को ना जाने आने का यातायात वहीं पार की कुक को काट लेते हैं गांव को और वहां खड़े रहते हैं और आते जाते को दिखाने के लिए <laughs> वो वो न ज्ञान है वहां पर न धन है वो वो ही स्थिति में रहता सबकी दुर्गति हो जाती है इसलिए उचित संबंध की स्थापना करना व्यक्ति के जीवन की सफलता का आधार और वो संबंध पृथ्वी से लेकर ईश्वर तक होना चाहिए ये वैज्ञानिकों का संबंध पृथ्वी से है जल से है वायु से है विद्युत से है तेल से है फलाने है खनिज पदार्थों से है और ईश्वर से संबंध नहीं इसलिए दुखी है और औरों को दुख दे रहे हैं बहुत दुखी है आपको अगर इसका यह भगवान बन गई है आकाश में घूम रहे इससे सुखी नहीं हो जाता चीज सारी आकाश में घूमती दिन भर चीज दुखी है दुखी तो बेचारी कोई इतना मांस का टुकड़ा ना मिले तो भूखी मरती मरती सो जाती है जाए काट और प्रातः काल उठना आरंभ करती है कौ ये है आकाश में उठने से जगत है इधे भ्रांति यहां पैदा की गई मिथ्या धारणा लोगों की बनी हुई ईश्वर से संबंध काट दिया ईश्वर से संबंध कटने के पश्चात कितनी हानियां होती हैं धर्म कर्म की कोई व्यवस्था नहीं रहती धर्म क्या है धर्म क्या है ईश्वर का आदेश धर्म है ये करो वो धर्म है ये नहीं करो यह धर्म है बस इसके अतिरिक्त जितनी कल्पनाएं होगी कोई धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकेगी व्यक्ति अल्पज्ञ है एक कुछ कहेगा तो कुछ कहेगा कोई धर्म का निर्णय नहीं होगा सर्वज्ञ पक्षपात रहित न्यायकारी सच्चिदान परमात्मा जो कभी भूल कर ही नहीं सकता वो निर्णय करेगा वो अंतिम धर्म हो सकते है बस उसी के ऊपर समाज चलता है फिर सुख होता है लौकिक सुख और अध्यात्म अब